सभी में कहा नहीं है वायु प्राण चंद्रमा में चले है चंद्रमा कहीं भी जाओ वहाँ भी है ना लेकिन फिर ये कहा गुरुत्वाकर्षण अरे वहाँ के शरीर वहाँ के ऊपर ही चल रहे हैं ये शरीर वहाँ के लायक नहीं है ना जो शरीर जहाँ के लायक है जिस लोक का जो शरीर है वो उस लोक में अपने ढंग से रह रहा है अब ये मान रहे हैं ना कि अमेरिका में एक वैज्ञानिकों का परीक्षण हुआ थे कुछ समय पहले उन्होंने तो क्या किया कैलिफोर्निया के पास में बोरिंग किया जमीन क्योंकि नीचे लावा है वहां कभी भी वो ज्वाला निकल सकता है पूरा सर भस्म हो जाएगा तो उसको उन्होंने देखा परीक्षण किया जब उसको वहां से लावा को निकाला उन्होंने उस गर्म लावा के अंदर कीटाणु आश्चर्य कर गए अरे जिसमें जिसके भाप के सामने हम खड़े नहीं हो सकते घट कीटाणु कार्य में दिमाग लाए हिंदू लोग ठीक ही काफी हाँ अग्नि के कीटाणु अपना अलग है इसलिए अग्नि शरीर ही अलग है ये हमारा पार्थिव शरीर भले भस्म हो जाए इसके सामने लेकिन आग्नेय शरीर इसमें घूम रहा है आनंद से वो उसका अपना खाना पीना भी वही है ये विचित्र है हमारा खाना पीना उसका खाना पीना नहीं है उसका खाना पीना उसी लावा में आप बताइए वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात हुई तब वो कहते निश्चित रूप से इसका मतलब ये हिंदू लोग जो कहते हैं कि सूर्य लोक में भी जीव जरूर है ये अब वो मान रहे उसमें भी कोई जीव है उसका भी अभिमानी कोई देवता जी कहते हैं ये लोग वह निश्चित सच होगा और स्वीकार कर मैंने हर लोक की हर अवस्था के अलग अलग शरीर है अब पक्षी हवा में उड़ रहा है यदि पार्थिव तो हम हवा में उड़ नहीं पा पंखा चाहे अच्छा लगा लो आप दो बोलो उड़ नहीं सकते आप क्योंकि जिसका शरीर जैसे बनाया है नियोनियों को जिस लोक के योग्य बनाया है उस लोक में उसी रूप से वो संचरण करेगा और वो चंद्रमय में चले गए अब वो जो चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण शक्ति है उसका अभिमानी जो देवता का शरीर है वो आपके शरीर के अनुकूल है नहीं इसलिए आप उस पर खड़े हो नहीं सकते लेकिन वहां जो जीव जंतु होंगे जिसको भले आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते उसको लेकिन वो जरूर वहां होंगे और वो वहां पर घूम रहे फिर आनंद ले रहे उनका अपना खान पीन अपना व्यवस्था उनकी अपनी है उसका हम क्या समझ सकते कितने प्रकार के अब वर्षा ऋतु पृथ्वी में आ देवता सारेशा पुरुष से अपानम अवस्टभ्य अंतरा ये आकाश मानव वायु ज्ञान वही इस पुरुष को क्या कर रहा है अपान पुरुष के अपान वायु को अवस्टब्ध कर लिया अधीन करके रखता है और इन दोनों का बीच में मध्यवर्ती जो आकाश यद अंतरा यद आकाश है यद आकाश अंधरा भवती जो इन दोनों के मध्यवर्ती आकाशस्थ यह समान वायु है एवं इन सभी जो व्यापक वा, वायु कौन है व्यान है यद आकाश समानो व्यानो वायु वही समान है और व्यान दो बीच में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं ना ये इसीलिए भाष्यकार आदित्य वही हो आदित्य वही प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध सामने दिखाई देता है सबको वही लेना आदित्य वो क्या है आदिदेवदम बाह्य प्राण बाह्य प्राण है शेष उदयती उदगछति वो क्या है उदयती वो उदगछती उद्गमन करता है क्यों कर रहा है आध्यात्म आध्यात्मिकम चक्षुभम चाक्षम प्राणम प्रकाशन अनुगृणानो रूपोपलब्ध चक्षुष आलोकन करो नित्य इस प्रकार जैसे मानव की यह सूर्य एनम आध्यात्म यह जो आध्यात्मिक प्राण है कहा है वो चक्षु श्रोत्र मुख नशा में कहा था ना और उसमें विशेष रूप से चक्षु को ले लिया चक्षु में विद्यमान जो आध्यात्मिक प्राण है उस प्राण को प्रकाश है न स्व प्रकाश के द्वारा अनुग्रह करता हो वह सूर्य मानव रूप की उपलब्धि में चक्षु के प्रति आलोक प्रदान करते हुए अनुग्रह कर रहा है तथा ठीक उसी प्रकार से पृथ्व्याभिमानिनी या देवता प्रसिद्धा और ये देवत में बाह्य प्राण पृथ्वी का अभिमानी देवता भी बाह्य प्राण है सूर्य जैसे बाह्य प्राण है अधिदेवत पृथ्वी प्राणी देवता भी अधिदेवत प्राण है इसी प्रकार जितने भी बाह्य विभिन्न प्रकार के तत्वों के अभिमानी देवता जो हमारे विभिन्न इंद्रियों की कार्यकलाप करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं उन सभी देवताओं को बाह्य प्राण रूप मानना दो संकेत मात्र के लिए कह दिया पृथ्वी पृथ्वी अभिमानी यह देवता प्रसिद्धा सायशा पुरुष से अपानम अपान वृत्ति अवस्टभ्य वह यह जो देवता हमारे इस पुरुष के शरीर के अंदर विद्यमान जो अपान वायु है इस अपान वृत्ति है उसको अवस्टभ्य मैंने आकृष्य वशीकृत्य उसको खेच के अपने अधीन करके आधा एवं अपकर्षण अनुग्रह करवंती नीचे की ओर खींच करके रखा हुआ है ऐसे करते हुए मन हमारे शरीर के ऊपर वह अनुग्रह करवती वर्तते अनुग्रह करती हुई वह देवता रह रही है इत्यर्थ अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वाद पतित सावका सेवा उद्गछित नहीं तो कोई ठिकाना ही नहीं है ना ये आप तो हमेशा गिरा ही पड़ा रहेगा गुरुत्वारा पार्थिव है पढ़ाई रह जाएगा उठ ही नहीं पाएगा अथवा अवकाश पकड़े उड़ते ही रह जाएगा हवा आ जाएगी आंधी तूफान आगे उड़ जाएगा अवकाश है सावकाश है वाह उदकच्छेद ऐसा न हो इसलिए अपने अनुरूप आप चल सके यही पृथ्वी देवता की कृपा है छेद आकर्षित पृथ्वी को तो नाय उदगछेद गंतुम अभिलक्षण अपनी भाव ये टिप्पण करने का यदा उदगछति सतदा ऊर्दुगामी उदाहरण वृत्ति बला ऊर्धमे गति सदा ऊपर उड़ते राजा याद आप भाष्य मध्य द्यावा पृथ्वी और यह आकाश अंतरा मैंने मध्य कहा द्यू और पृथ्वी का बीच में द्यू हो गया सूर्य में वहां ले लिया पृथ्वी हो गया बीच में ले लिया नीचे में अब दोनों के बीच में हो गया आकाश तस्त वायु हो आकाश उच्चते उस वायु को ही आकाश से करता है जो बहती हुई बाह्य वायु है महावायु है उसको आधार और आधे का भेद कर दिया आकाश में ही वायु है इसलिए वायु को ही आकाश कहा दिया वायु को ही आकाश सबसे कहा है मंत्र ने मंचस्तवत जैसे मंचाक्रोशंती तो मंच जोर से बोल रहे हैं तो मंच को ही बोल सकते हैं क्या अरे मंच पर बैठे हुए लोग बोल रहे हैं अकरा मंच बोल रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी आकाश में रहने वाली वायु बहती है लेकिन उसी को आकाश कह दिया गया समान वही समान है समान अनुग्रहण वर्तते समान वायु पर अनुग्रह करता हुआ रह रहा है समान से आकाश तत्व सामान्य क्योंकि जिस प्रकार वहां समान द्यूलोक और पृथ्वी का बीच में अंतरस्थ मध्यस्थ है उसी प्रकार यहाँ भी प्राण और अपान का बीच में समान कार्य कर रहा है यह सादृश्यता है सामान्य मैंने सादृश्य सामान्य नीचे यो वायु वायु और सामान्य रूप से जो वायु वायु है सा व्याप्ति सामान्य और व्याप्ति की सदृशता को देखता हुआ व्यानो व्यानम अनुग्रह वर्तते वही व्यान पर भी अनुग्रह कर रहा है समान और अभिमान उन दोनों को अनुग्रह करने वाले कौन है बाह्य जो वायु है उसका अभिमानी देवता हम्म, तो प्राय तेजो हवा बहुदान तस्मा उपशांत तेजा पुनर्भव इंद्रिय मनसी संपद्यमान तेजो हवा उदान कह गया था उदान वायु के बारे में बताना प्राण पंचदा विभक्त होकर किस प्रकार से रहता है ये सब बताने के बाद उत्क्रमण करेगा केन उत्क्रामण उसकी जवाब में कर ये जो हवा उदान यह जो प्रसिद्ध सूर्य है ना यह सूर्य ही उदान वायु बन गया तेज है वो गीता जी भी कहा ज्योतिषाम रवि अंशमान ज्योतिर्मय पदार्थों में रवि अंशमान जो रवि है वही मेरा स्वरूप है इसलिए वह विशिष्ट तेज रूपा सूर्य ही उदाहरण रूप में यहाँ पर उपस्थित थे इसलिए तस्मात उपशांत तेजा जिसकी शरीर के अंदर तेज मन गर्मी शांत हो चुकी हो लोग क्या कहते हैं उसके लिए अरे भाई इसकी सारी इंद्रिया मन में लीन हो गई हैं अब इंद्रियों के सहित तो यह मन अब चलेगा यहाँ से जाएगा पुनर्भवम पुनर्जन्म के लिए जाता है वह मन में विलीन हुई इंद्रियों के सहित तो मनसी संपद्य माने इंद्रिय ही तृतीय की वजह से सा ऐसे जोड़ लेना वहा कर्म का कर्ता उपासना विशिष्ट कर्म हो चाहे केवल कर्मी हो चाहे कोई भी हो जो भी उत्क्रमण करने वाले हैं मर के जो लोक लोकांतर को प्राप्त करने वाले जो भी हैं सद्यो मुक्ति वाले को छोड़ करके से प्राणा दी अत्रिय समलियंत ये जो कहा गया है जीवन मुक्त सद्यो मुक्ति वाले का इसलिए उनको छोड़कर बाकी सभी लोग यात्रा करने वाले कोई उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जा रहा है चाहे दक्षिणायन मार्ग से चाहे चंद्रलोक आदि लोग जाके आ रहे हैं चाहे कोई यही चाहे समरस के बेसी लोक में एक जगह से दूसरे घर में एक घर से दूसरे घर में जैसे बदलते हैं किराया मकान उसी प्रकार से शरीर को बदलेगा चाहे कोई उद्गम करने वाले सभी के लिए बात है ये इंद्रियों के सहित वह व्यक्ति पुनर्भवम प्राप्त होती ऐसे अपना ध्यान करना पड़ेगा वह पुनर्जन्म को देशांतर जाकर प्राप्त कर लेता है भाष्यकार कहते हैं यद बाह्य हवई प्रसिद्धम सामान्यम तेजा ये जो बाहर में इस दियोलोक में जो दिखाई दे रहा है प्रसिद्ध सामान्य जो तेज है तत् वही शरीरे उदान उदान वायु अनुग्रह थी और उदान वायु के ऊपर अनुग्रह करता है स उदार सब रीति श्रुत्यंत्र श्रुत्यंत्र में कहा ही है वही उदार है वही जो वायु है ऐसे भी कह दिया तो इसलिए कहते कि देखो स्वेरा प्रकाश ही कैसे अनुग्रह करता होगा अपने ही प्रकाश के द्वारा अनुग्रह करता स्वर प्रकाश इतिप्राय स्वकीय औष्ण्य औष्टनी तेज अनुग्राह्य वायोर और देहे वात प्रकोप व्यथाया अग्निया औष्ण्य उपधान प्रशम दर्शनाथ प्रसिद्ध मित्योदयम टिप्पणकार कहते हैं स्पष्ट क्योंकि जो है बाहर में भी आप क्या देखते हैं वात के मारे शरीर में भयंकर दर्द और धोरा रहा है तो उसको सेंक दो आग के सामने बिठाओ सेंकते अपने आप सारी गर्मी ऐसे चढ़ेगी तो सारे वात का दर्द खत्म हो जाएगा वाप के वजह से दर्द है वायु के प्रकोप से वायु हो देहे वात प्रकोप व्यथाया क्योंकि जो है वो औष्ट ही औष्टत्मक जो तेज के द्वारा ही अनुग्रहित तो माननी पड़ेगी क्योंकि जो देखा गया वात के प्रकोप की व्यथा को भी अग्नियारी के औष्ण उपदान के द्वारा प्रशमन करता हुआ देखने को मिलता है इसलिए शरीर उदान उदानम वायु मनोग्रहणादि स्वयं प्रकाशिना इति यशना तेज स्वभाव बाह्य तेज अनुग्रहिता जिसलिए बाह्य तेज अनुग्रहित है इसलिए उदाहरण को विपरीत क्या कर दिया तेज स्वभाव वाला है बाह्य तेज अनुग्रहित होने के कारण तेज स्वभाव वाला हो गया है इसलिए इसलिए मंत्र में तेजो हवा उदालो ऐसे कर दिया उत्क्रांति करता तस्मा इसी कारण से वह उत्क्रांति का करने वाला भी है यदा अलौकिक पुरुष उपशांत तेजा भवती जब यह अलौकिक पुरुष उपशांत तेज वाले हो जाएगा जट ने जो हस्तादियों में विद्यमान जो उष्णता है वह जब शांत हो जाएगा वह तेज जब शांत हो जाएगा ये उसका तात्पर्य उपशांत स्वाभाविकम तेज उपशांत हो गया है स्वाभाविक तेज जिसका उस व्यक्ति को कहते जब ऐसा होता है तदा उस समय तम क्षीण आयुषम विद्या तब समझो कि वो क्षीण आयु वाला है और उसका आयु समाप्त हो चुका है और वो मुमूर्षु है इच्छु है स पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिपदित है वह पुनर्वम ने वह शरीरांतर को अवश्य ही प्राप्त करेगा खत्म कैसे प्राप्त करेगा सहेन्द्रिय मनसी मानी प्रवेश बीरवागादि भी मन में प्रवेश करती हुई इन वागा इंद्रियों के सहित ही वह पुनर्भाव को प्राप्त होता है ये कर चित्तस्तेन प्राणम मायाति प्राणस्तेजसा युक्त हो सह आत्मना यथा संकल्पित लोकम नयती क्योंकि मरण काल में यह चित्त मरण काल में वह जिस चित्त वाला होगा अर्थात जिस प्रकार के चित्त संकल्प करता है जैसा संकल्प करता है यह चित्त उसी संकल्प के सहित प्राणम माया थी ऐसा प्राणम थी यह जीव मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त केशव मैंने जीवात्मा प्राण मैंने मुख्य प्राणात्मक वृत्ति में आया अपने सकल पर अन्य जो पंचदा विभक्त प्राण वृत्ति आते और अन्य जो कुछ सारा का सारा कालीन हो जाएगा मुख्य प्राण में लीन हो जाता है तेजस युक्ता फिर वह प्राण भी कहा जाएगा अपने उदाहरण वृत्ति विशेष को पकड़ तेजसा में उदाहरण वृत्ति नाश युक्त युक्त होकर के वृत्ति रूप के संयुक्त होकर के यह जो भोक्ता रूप जीव है ना सह आत्मना अर्थात भोक्ता रूप जीव के साथ कहा जाएगा यथा संकल्पित लोकम नहीं संकल्प अनुरूप लोक को पहुंचाएगा तो मरण दशा होता है उस समय आपको वो चीज दिखाई देगा आपका अपने ही जो अनंत जन्मों के किए कर्म जो अभी फल देने के लिए बाकी संचित पड़े हुए हैं वो और जो क्रियमाण यहाँ पर हुआ इस जन्म में पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प के द्वारा कृत जितने भी कर ले वो प्रारब्ध उपभोग से जो था उनसे अतिरिक्त जो कुछ भी आपने कर्म पुरुषार्थ संकल्प से किया है वो सारे कर्म सब मिल जाएंगे मिल करके अब उनकी आपस में रनिंग रेस चलेगी कर्मों की अब जो कर्म अगले जन्म के फल देने के लिए ताकत रखते हैं वो अलग हो जाएंगे उनमें और बाकी सब है संचित में चले जाएगा वापस है नहीं अब वो जो कर्म है प्रारब्ध अगले शरीर का प्रारब्ध जो बन गए वो कर्म के अनुरूप आपको वो शरीर जो मिलना है वो शरीर दिखाई चाहे कुत्ता का हो बिल्ली का हो चूहा का हो मच्छर का हो जो भी होगा चाहे देवताओं का हो या मनुष्यांतर का हो स्त्री का हो चाहे जो भी मिलना है वो शरीर दिखाई देगा जैसे ही दिखाई देगा उस शरीर के प्रति आपके अंदर इतना अनुराग इतना प्रेम हो जाएगा आप उस शरीर से बढ़कर सुंदर दिव्य शरीर संसार कोई दूसरा है ही नहीं ऐसे मानोगे और झट इतिए अपने इंद्रियों के सहित मन भोगता जीवात्मा उसके अंदर और उसको जहां जन्म लेनी अब वो वहां से निकला अगले शरीर खत्म हो गया और वो उसके साथ चला गया जहां जन्म लेने वहां जन्म ले लेने ये प्रक्रिया है उसको संक्षेप में इन्होंने कह दिया यथा संकल्पितम लोकम <coughs> उसी बात को भाष्यकार ने कहा कि भाई वो क्या होता है मरण काल ये चित्त भवती तेन एस जीव चित्तेन संकल्प इंद्रिय सब प्राण मुख्य प्राणवृत्ति आया मरण काल में यह चित्त ये चित्त ही मतलब जिस प्रकार के संकल्प वाला होगा तेना जीवा जीव एश में जीव तेन संकल्प उस संकल्प के साथ साथ इंद्रिय ही सह इंद्रियों को भी अपने सहित लेकर के प्राण मने मुख्य प्राणवृत्ति थी मुख्य प्राणवृत्ति से को प्राप्त करता है मरण काले क्षीणेन्द्रिय वृत्ति सन्मुख्य प्राणवृत्ति अवतिष्ठते कहने का तात्पर्य है मरण काल में क्षीण इंद्रिय वृत्ति वाला होने के कारण वह मुख्य प्राण की वृत्ति से ही अवस्थित रहेगा तदा अभिवदंती ज्यादा उस स्थिति में ही एक ज्ञाति लोग जो आसपास में रहते हैं चाहे महात्मा हो तो बगैर जगत समझो गृहस्थी हो तो संबंधी लो पुत्र आदि जो भी उस मरणासन व्यक्ति के पास मेरे तो क्या कहते हैं उच्छोसिति जीवती थी अरे भाई अभी मरा नहीं है इसकी तो श्वास चल रही है भले ये सुन नहीं रहा है हम क्या बोल रहे हैं नहीं समझ मेरा और रिप्लाई आंसर नहीं उसका जवाब नहीं निकल रहा है इशारे से ही बोलना बंद आंख भी खोलना बंद सारी इंद्रिया ठप लेकिन श्वास चल रहा है लोग कहेंगे अभी ये जिंदा है सच प्राणा तेजसा उदान वृत्तिया युक्त इस तरह से इसलिए इसे ये क्यों बताया ये ज्ञापन करता है कि सारी इंद्रिया भी जब ना हो तब ये जीवात्मा अपनी इंद्रियों के सिर्फ कहा रहेगा मुख्य प्राणवृत्ति में रहता है इसलिए वो श्वसित मरा नहीं वो जीवती और वह मुख्य प्राण वृत्ति भी क्या करेगा सच प्राण तेजसा उदान वृत्ति युक्त सन्न उदान वृत्ति से युक्त होकर के सह आत्मना ना भोक्ता स्वामी जो भोक्ता है उसके सहित ही स एवं उदान वृत्ति युक्त इस प्रकार से उदान वृत्ति से युक्त होकर के ही वह प्राण तम भोक्तारम पुण्य पाप कर्म कर्म वशाद यथा संकल्पितम यथा विप्रेतम लोकम नहीं प्रापयती पुण्य पाप कर्मों के वजह से यथा संकल्पित और यथा विप्रेत लोगों को प्राप्त करा देता है तो प्राण उदाहरण के द्वारा कराता है कौन कराता है पूछा था क्यों उत्क्राम मुख्य प्राणवृत्ति के द्वारा ही उत्क्रमण होता है और मुख्य प्राणवृत्ति उदाहरण के सहयोग से और उसमें सब कुछ इंद्रियों के सहित भोगता भी उसी में लीन है और उसको लेकर के चल पड़ता है ये अच्छा कहते हैं कि भाई ठीक इस प्रकार से जाता तो है अब फल बताए जो इसका प्रश्नार्थ को जो दिया हुआ जवाब को समय प्रकार से जानता है उसको क्या फल मिलता है वो बता रहे या एवं विद्वान प्राणम वेद नहास्य प्रजा हीयते अमृतो भवती तदेश श्लोक यह एवं विद्वान जो विद्वान पुरुष पूर्वोक्त विशेषण से युक्त उस प्राण को जानता है प्राणम वेद जो प्राण ही निरंतर रहने वाला बाकी सब क्या है कभी उद्भूत हो जाते हैं कभी अनुद्भूत हो जाते हैं लेकिन सदा आपका साथ कौन है सक्रिय होकर के रहने वाला प्राण है चाहे सशक्ति हो स्वप्न हो जागृत हो चाहे मरण काल भी बाकी से तो कोई इंद्रिया है कोई नहीं है कोई वृत्ति चल रहा है कोई नहीं भी चल रहा है मरण काल में तो अन्य वृत्तियां भी खत्म हो गई ना मैंने अपान नहीं व्यान नहीं समान नहीं वह प्राण भी नहीं जो श्वसन करना होगी जरूरत नहीं अब उदाहरण वृत्ति के साथ मुख्य प्राणी केवल हमेशा रहता है बाकी सारी वृत्तियां शांत भी हो जाएंगे यानी ये कभी आपके साथ नहीं छोड़ते इस जन्म से अगले जन्म अगले जन्म से ले जाने वाला भी यही हर जगह घुमाने फिराने वाला यही सदा साथ रहने वाला है ऐसे चीज को जो जानेगा उसका भी वंश सदा चलते ही रहेगा उसका वंश कभी मिटता नहीं है वही कह रहे हैं अस्य प्रजा न ही ऐसे विद्वान का जो प्रजा है ना उसका कभी नाश नहीं होता कभी ऐसा नहीं होगा संतान वाला होकर उसका वंश मिट गया ऐसा नहीं होता उसकी वंशावली बहुत लंबी समय तक चली अमृतो भवती और सापेक्ष अमरत्व को भी प्राप्त कर शुद्ध अमरत्व नहीं है ब्रह्मज्ञान तो है नहीं यहाँ प्राण विद्या है इसलिए कहते हैं साहित्य प्राप्ति प्राण के साथ साहित्यता की प्राप्ति प्राण अभिमानी देवता की साहित्य प्राप्ति यहाँ पर गौण फल है गौण अमृत तदेश श्लोक इस विषय में यह मंत्र भी है यह कशिद देव विद्वान यथोक्त विशेषण विशिष्ट उत्पत्ति भी प्राण वेदा जाना जो कश्चित एवं विद्वान जिस प्रकार का कोई विद्वान हो जो कि यथोक्त विशेषण विशिष्ट उत्पत्ति आदि भी प्राण वेदा उत्पत्ति आदि कैसे उत्पन्न हुआ आत्मा से उत्पन्न हो गया बता दिया इत्यादि संपूर्ण उत्पत्ति आदि विशेषणों से पूर्वोक्त विशेषणों के द्वारा जो समय प्रकार प्राण को जाने का जाना थी तस्म फलम जाना दिया मतलब उपास केवल आपने भी अब जान लिया जानने मात्र से काम चलेगा नहीं ऐसी उपासना करने पड़ेगा ऐसा चिंतन करना पड़ेगा रोज एक घंटा और बैठ करके अपने शरीर के अंदर उसकी चिंतन करना है जो इन मंत्रों में बताया हुआ है उपासना कर्म निरपेक्ष उपासना कर्म सापेक्ष भी कर सकते हैं कर्म निरपेक्ष उपासना ऐसे जो करने वाला उपास इसका जाना थे मतलब उपास अनवरदम इत्यर्थ टिप्पणकार कहते हैं निरंतर भी इनकी एक दिन कर लिया हो गया हम भी बड़े प्राण उपासक हो गए नहीं निरंतर करनी पड़े कोई भी चीज का अभ्यास का तात्पर्य है ठोस जो पतंजलि सूत्र को भूलना नहीं चाहिए स्पष्ट लिख दिया है दीर्घ काल निरंतर सत्कार भी तो दृढ़ भूमि दीर्घ काल पर्यंत ये नहीं कि हम पचास हजार से कर रहे हो रोजाना थोड़े थोड़े करते हैं जी वो दीर्घकाल तो हुआ निरंतर ही तैल धारा अक्षुण धारा होनी चाहिए जलधारा धारावत तरंगी रूप नहीं होनी चाहिए उसको निरंतर ही कर दीर्घकाल से करें निरंतर भी कर रहे हैं इन मजबूरी से कर रहे हैं जब कुछ कुछ करना इसलिए कर रहे हैं तो नहीं तभी फल नहीं होगा इसे सत्कार आसीवित होनी चाहिए पूर्ण आदर के साथ अपनी साधना के प्रति निष्ठा होना अति आवश्यक है यदि हमें अपनी साधना में ही निष्ठा नहीं है अपनी साधना में हमें विश्वास नहीं है यह हमें जो चाहिए वो दिलाएगा तो फिर मिलने वाला है नहीं आज लोग पढ़ने इतने आते हैं क्यों विद्या प्राप्त नहीं होती आप बताइए एक लव्य जैसा व्यक्ति मूर्ति से विद्या को प्राप्त कर लिया और आप जिंदा बैठा है उसे नहीं विद्या प्राप्त कर सकते हैं क्या कारण है कभी सोचा क्यों नहीं पंक्ति लगती है क्यों दिमाग में कोई विद्या घुस नहीं रही है क्यों हृदय में वास नहीं करती है विद्या कभी चिंतन किया कारण यह है आपको प्राप्त साधन में आपकी निष्ठा नहीं है ठीक है चार सुन रहे हैं बाहर चल रहा है भाई चलो कोई भीड़ होती है हम भी चलते हैं हमारे देखते हैं क्या होता है क्या बोलते हैं तो यही है सब में वो इसमें आचार्य के पितरे आपने देखा परिषद के शुरू में आचार्य शंकर कितना अपने गुरुओं के प्रति आचार्य के प्रति यमराज जी के प्रति किसी उपनिषद से पहले वाले पुरुष मंगलाचरण नहीं किए उसमें कर और आगे भी मांडुकी में दिखेंगे आप जब तक जिनसे हम जो कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके प्रति वो निष्ठा विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती सुन लो गए शब्दार्थ वो जरूर होगा लेकिन उसके अप्रोक्षानुभूति कभी नहीं हो सकती इसलिए भगवान का श्रद्धा वल्लभते ज्ञान वो उस साधन के प्रति अभाव है जो निष्ठा का अभाव है इसी वजह से विद्या सफल नहीं होता है संकेत यहाँ पर उसी बात पे कह रहे हैं कि टिप्पणकार उपवास से अनवरत निरंतर उपासना करनी वो या जानती का तात्पर्य है तत्व फलम अहिकम आमुष्मिक उचित है उसको यह अहिक फल भी है और आमुष्मिक फल भी इस लोक में भी फल मिला और लोक में भी सर्वत्र सदगति हो गया क्या फल है नहास्य दैवास्य विदुषा प्रजा पुत्र पौत्र लक्षण ये छिप्य है अस्य विदुषा इस विद्वान का जो पुत्र पौत्रादि रूपा प्रजा है कभी उसका लक्षित वह धारा टूटेगी नहीं निरंतर चलती रहेगी टूट जाती है बिखर जाती है पता ही नहीं चलता है वर्षों का गिनती करें हैं कितने आप गिनाओगे पिता दादा परदादा का नाम उनसे आगे हम नहीं जानते क्यों भाई उसको कहीं ना कहीं छीन हो गया हो अब पैदा हो रहे हैं इससे कोई संशय नहीं पैदा तो सभी होते हैं पशु चिड़िया सब पैदा हो ही रहे किसको वैसे का ज्ञान है एक साल हजार कीड़े बरसा में आप देखते हैं इकट्ठे पैदा तो इसकी क्या वंशावली ढूंढोगे आप वैसे हम लोग इकट्ठे पैदा हो रहे हैं कोई वंशावली कारण क्या है उपासना का अभाव अब देखिए आचार्य शंकर हुए गदिया बना दी गई एक ही एक मठ है जहां अक्षुण परंपरा है श्रृंगेरी उस समय जो आचार्य बैठे वहां कितने अवधि तक हुआ एक के बाद एक के बाद एक तत्काल बनाते गए और गद्दी कभी रिक्त नहीं रही खाली नहीं रही और अन्य तीनों पीठों का वो हाथ कभी पचास हजार तो कोई मिला ही नहीं किसी को बनाया ही नहीं गया और आज ये आप एक एक पट पर तीन तीन चार था रहे कोटो में लड़ रहे हैं कारण क्या है कि साधन में निष्ठा का अभाव है जिस आचार्य शंकर की परंपरा में बैठ के चल रहे हैं उस आचार्य शंकर प्रदत्त भाष्य में निष्ठा नहीं विश्वास नहीं स्वाध्याय नहीं विश्वास अपना नित्य जो स्वाध्याय करनी चाहिए पीठ पर बैठ के करते नहीं छोड़ जो उपासना वहां रहकर करने के लिए विधान किया उसको नहीं करनी इसी कारण से वो टूट गए तो आज भी कर है आज कोई ना कोई बैठा लेकिन पीछे टूट तो गया था तो यहां पर थे अब जब एक बार टूटा फिर शुरू कैसे हो गया है? अब मान लो किसी गद्दी में पचास साल कोई नहीं बैठा कोई अगला बैठेगा तो कैसे बैठेगा बिठाने वाला कोई गुरु तो है नहीं बिठाई नहीं वो किससे दीक्षित था कौन था क्या था क्या नहीं भगवान जाने किस आगे बिठा दिया भाई टूटी परंपरा है वो गुरु परंपरा तो खत्म हो गए उसने शिक्षा उससे पाया नहीं है जिससे पूर्ववर्ती से तो वो जो संस्कार है जिसको आप आज की भाषा में जीन्स कहते हैं नहीं वो जीन्स की परंपरा खत्म नया आ गया टपक गया बीच एक वायरस है वो जीन्स <laughs> और क्या चलाएगा उसको पता ही नहीं उसको प्राप्त ही नहीं है वो संस्कार परंपरा की वो क्या चलाएगा वो क्या चलाएगा आगे की परंपरा को जैसे कैसे चलते रहता है और यदि प्राणोपासक यदि होता तो कभी ऐसा क्षीण नहीं होगा पतिते शरीर प्राण सहजतया अमृतो अमृत धर्मा भवधी ये आमुष्मिक बताया पतितेज शरीर प्राण साहित्यतया प्राण के साथ साहित्यता को प्राप्त होने पर अमृतो अमृत धर्मा भवती तद तो एक अर्थ है संक्षेप अभिदय का एश श्लोको मंत्रो ही इस यथ को बताने के लिए संक्षेप से कथन करने वाला यह मंत्र उपलब्ध है उत्पत्ति आयति स्थानम पंचधा अध्यात्म चाण से विज्ञायामृतमश्नुति विज्ञायामृतमश्नुत इति प्राण की उत्पत्ति मैंने परमात्मा से उत्पत्ति हुई है ऐसा जानना और आयत और ये सूर्य कैसे जाता है चित्त मन के संकल्प से जाता है आगमन भी आयतिम से यतिम आयतिम च उभय आया कैसे शरीर में मन का संकल्प से गया कैसे वो भी मन का संकल्प से यथा संकल्पम यथा लोकम प्राप्त स्थान स्थानम उत्पत्ति के बाद स्थान स्थान में कैसे रहता है किसमें रह रहा है वो कहा रहता है शरीर के अंदर रहता है और कैसे रहता है विश्व व्याप्त होकर रहता है कैसे व्याप्त होता है पंचदा च व्याप्त पंच प्रकार से विभक्त होकर के पुरेश व्याप्त अध्यात्म और इसी प्रकार से अध्यात्म आदि भौतिक और आदि दैविक इसका जो स्वरूप छह से सबको उपसंग्रह कर लेना है समाह कर लेना आदि इत्यादि बाह्य चक्षुरादि आध्यात्मिक और प्राणादि भौतिक भेद स्वरूप जो प्राण से उसको जान करके साधक क्या हो जाता है अमृत अमृत वो अमृत को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का मूल हुआ भाष्यकार कहते तीसरे प्रश्न पे उत्पत्ति परम आत्मन परमात्मन उत्पत्ति परमात्मा से उत्पत्ति किसकी प्राण प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है शुद्ध ब्रह्म से हो गई है ऐसे आ यदि मन आगम मनोकृत नस्मिन शरीर मन के द्वारा कृत शरीर के अंदर उसका आगमन स्थानम स्थिति और स्थिति का है आयुपस्था स्थानेश द्वित्वंच स्वाम्यमेव का जब बताया गया सम्राट के समान स्वामी होकर के इसके अंदर रहता है विभू बनता है प्राणवृत्ति भेदा नाम पंचदा और प्राणवृत्ति के जो पंचदा भेद भेद स्थापना बाह्यम आदित्यादि रूपेण अध्यात्म चेव चक्षुराध्याकारेण अवस्थान और तो अध्यात्म इसने अध्यात्म पुरस्कार कर दिया भाई बाह्य आदित्य रूपेण अध्यात्म ले लेना और चक्षुराध्याकरण अवस्थिति बाह्य कौन हो गया आदि भौतिक में आय इत्यादि अतः उत्तर क्या होता आदि दैविक समझ लो आयत रूपेण अध्यात्म चक्षराध्या रूपेण अध्यात्म स्वरूप को अवस्था थी ये सबको विज्ञाया एवं प्राणम अमृतम अष्टे ऐसा प्राण को जानने वाला व्यक्ति उसी प्राण स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है विज्ञान अमृतम दुरोचरम प्रश्नार्थ परिसमाप्तम युद्ध है प्रश्न के अर्थ पर समाप्त करने के लिए है टीका में देखो बहुत सुंदर बता दिया है उत्पत्ति आदि तो विशेषण विशिष्टम का मतलब क्या आत्म प्राण हो जाए एक मन कर धर्माधर्म करना आदि दो आत्मा च परिवज्य अपारम स्वस्वरूपम प्राणम चक्षुश्रोत्रो नाभव समानम नाड़ी समय व्यानम उदाहरण चक्षुषमनायाम स्थापयती स्थानम स्थान हो गया उत्पत्ति आयति स्थान उदाहरण उत्क्रामरी नहीं कहा गया लेकिन समझ लेना काय ही प्राण अपान समान व्यानोदान अनुग्रह कई आदित्य पृथ्वी देवता आकाश वायु तेजो रूप ही अधिदेव आदिदेव अभिदेव आदित्यादिकम आदित्यादि कृत अनुग्रहिर अध्यात्म चक्षुर्वाक श्रोत्र मन त्वच चक्षुराधिग्राह्यम अधिभूत धारयती सहयोग उदाहरण भोक्ताची चुक्त भोक्तारम लोकांतर नहीं थी सहयोग च वरिष्ठा प्रजापति अत्याचम प्राणम वेद पूरा संग्रह कर लिया बस इतनी ही रट करके इतनी ही बस बैठना है ध्यान करना है उपासना करनी है इसी चीज को ये उपासना का स्वरूप बता दिया इस प्रकार से अभी तक जो आपने पढ़ा कर्म विद्या गति श्रवण हुआ लेकिन इसके विरुद्ध जो पुरुष है वो क्या करें अब तक जो आपने सुना है कर्म और विद्या का गति बताया गया कर्म और उपासना कैसे हुआ क्या हुआ कितने मार्ग है उत्तरायण दक्षिणायण सब बता दिया लेकिन से विरक्त है पुरुष और प्राण विद्या आदि के चित्त एकाग्रता को संपादन भी कर लिया है उस पुरुष के लिए तक्षुद्य मतो अतएव शांत दृष्टि मतो मुख्य अधिकारी पर विद्या प्रश्न प्रश्नत्र मारवधे अब यहाँ से जो है पर विद्या का अब तक अपर विद्या का कथन हुआ अब इसके आगे पर विद्या का भी प्रश्न है इसमें भी आप ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई क्रम इसमें भी समझाएंगे पूरे छह प्रश्नों के साथ समझेंगे तब पकड़ में आएगा ये पर विद्या कैसे कथन किया जाता है पहले शुरू कर लो अथ चतुर्थ प्रश्न हो अत हैरं सौर्यायणी कार्य पृछ भगवन्ने तस्मिन् वर्षे कान स्वपंथी कान्यस्मिन जागृति कतरा एष देव स्वप्ना पश्यति कस्येत सुखम भवती कस्मु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ती अथ उसके बाद निश्चय रूप से एवं विपलाद महर्षि सौर्यायणी सूर्य के पौत्र सौर्यायणी गर्ग नाम से सुप्रसिद्ध उसने पूछा हे भगवान तेज स्विन पुरुष है सिर हाथ आदि वाले इस पुरुष में कान स्वपंथी कान कान इंद्रिया सोती है और कान अस्मिन जागृति कान इसमें जागती है यानी किन किन इंद्रियों की जागरण बना हुआ रहता है जागृत और स्वप्न के व्यापार के समाप्त हो जाने स्वप्न में पहला वाला ये स्वप्न में कितने सोते हैं कौन रहा इसे सुषुप्ति में कौन कौन सो जाते हैं कौन वहां जगा रहता है ये जानना है कतरा ये देव कतरा ये देव स्वप्नान पश्यति और कौन वह देव है इनमें जागते हुए सकल स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव करता है से तो सुखम भवती कारण यह सुख को प्राप्त कर सुखी होता है किसमिन कस्मिन सर्वे संप्रतिष्ठिता भवंती और किसमें सभी इंद्रिया उस समय प्रतिष्ठित होती हैं वो भी बता दें ठीक अतः गार्गी सौर्यायणी गार्ग्य हो प्रच्छ भ्रष्ट प्रेरणा अपर विद्या गोचरम सर्वम परिसमाप्य अवतरण कैसे करके अब पौर्वा परि संबंध जोड़ रहे भाष्यकार प्रश्न पूर्व के दिन प्रश्नों के क्या हुआ है अपर विद्या विषय जो कुछ भी बोलना था सब कुछ बता करके समाप्त कर दिया गया संसार व्याकृत विषय सात लक्षण अनित्य क्या है वो सर्वम संसार देखिए व्याकृत विषय है साध साधन रूपा है अनित्य उसके बारे वर्णन हो गया अथ इधानी असाध्य साधन लक्षण अप्राणम अमनोवोचरम अतीन्द्र विषय शिवम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम पर विद्यागम्य पुरुषाख्यम सभायाभ्यंतरम अजम वक्तव्यम उत्तरम प्रश्नत्रयम आरभ्य अब जो है साध्य साधन लक्षण रूपा नहीं है जो असाध्य साधन लक्षण साध्य साधन भेद ही नहीं है जिसमें अप्राण इसलिए प्राण रूप नहीं है अमरो मन के तरह संकल्पित भी नहीं हो सकता आज इंद्र विषय इंद्रिय ग्राही भी नहीं है किंतु कल्याण रूप है शिवम शांतम द्वैताभावत किसी प्रकार की चांचल्यता नहीं है अविकृतम अतएव विक्रिया रही थे नाश रही भी अक्ष अक्षर जिसने इस प्रकार के छठ विकारों से रही थे वो अतएव वो सत्य है एकमात्र पर विद्या गम्य है नाम से कहा जाता है बाह्यता और आभ्यंतर तक कार्यकारण भाव के दृष्टिकोण से वह अजय और सर्वत्र व्याप्त सबाह्यम आभ्यंतर अर्थात बाया आभ्यंतर सर्वत्र वही व्याप्त है प्रवाह उसको कहना चाहिए या सोचकर उत्तरम प्रश्न त्रम आरपित अगला जो प्रश्न त्रय है इसको आरंभ किया जाता है तत्र उसमें भी पहला शुरू कैसे किया जाए उसके लिए मुंडक को आधार लेंगे क्योंकि पहले कहते मुंडक का ब्राह्मण है वो मंत्र भाग है उसका व्याख्या ही है भले विपरीत क्रम से पढ़ा जा रहा है सुरीपता इव अग्ने यस्मात परा अक्षरा सर्वे बाबा विश्वलिंगा इव जायते कहा था सुदीप्तादि अग्ने जलती हुई आग से जिस प्रकार से सारी विस्फुलिंग निकलते हैं चिंगारियां निकलते हैं अंगारे होते हैं ठीक उसी प्रकार से पराग अक्षर सर्वे भावा जायते उस पर अक्षर तत्व से ये सब कुछ पैदा हुआ है ऐसा आप जो है और कहेंगे वहाँ तत्र चपियंती अंत उसी अक्षर में सब लीन भी हो जाते हैं इति उत्तम कुतरा द्वितीय मुंडक दूसरे मुंडक में आपने बात कहा है अब हमें इसलिए जानना है कि कौन है जो पर अक्षर से आते ही कृपा अक्षर में ही चले जाते हैं केते सर्वे भाव अक्षराद विभजन दे वे सब भाव कौन है जो अक्षर से विभक्त होकर अलग होकर प्रकट हो जाते हैं कथम विभक्त संत तत्रियंती और किस प्रकार विभक्त होने के पश्चात फिर उसी में ही लीन हो जाते हैं वह प्रक्रिया जानना है किम लक्षण हुआ तद अक्षर मिथि वास्तविक लक्ष्य है केवल उस प्रक्रिया को जानने में नहीं उस अक्षर को जानने में किम तक किम लक्षण वात अक्षर वह अक्षर का क्या स्वरूप है वो हम जानना चाहते ये तो तक विवक्षया अधुरा प्रश्नान उद्भावयती उसी कत, कथन करने की इच्छा से उसी विवक्षा से जो है अब प्रश्नों को उत्थापन किया जा रहा है थोड़ा आगे जाने से पहले टीका में देखिएगा छियालीस पृष्ठ में अगले पृष्ठ में ही तीसरी पंक्ति तो आदि प्रश्न है ना जागृत धर्मी पृष्ठ आदि प्रश्न के द्वारा क्या पूछा गया जागृत धर्मी जागृत धर्मी पृष्ठ जागृत काल में जो धर्मी होता है उसके बारे में पूछा गया था स्वप्ने यस्य व्यापार परमे जागृतम नास्ती स्वप्न में जिसके व्यापार ब्रह्म होने से वह जागृत जगत नहीं हुआ करता है सत्य सधर्मित निश्चय तुम शक्य वही इसका धर्मी है असली ये जानना संभव होगा अत प्रथम प्रश्न उसका विषय को चर्चा किया गया द्वितीय न अवस्था त्रय संरक्षण कस्य कर्म इति प्रश्न और दूसरा प्रश्न में तीनों अवस्थाओं में इसकी रक्षा कौन करता है प्राणी करता है इसलिए प्राण की व्याख्या सर्वधिक जागृत अनुप्रत व्यापार से प्राण से देवरक्षक प्रत्ये है जागृत से भी अन्य कालों में भी अनुपरत व्यापार वाला होकर के प्राण ही देह का रक्षक है ये बात वहां सिद्ध किया गया तृतीय न स्वप्न से धर्म पृष्ठा और तृतीय की दृढ़ से स्वप्न का धर्म के बारे में पूछा गया था अब चतुर्थे न सुषिप्ति धर्मी अब चौथे की तरह क्या कर रहे हैं आप सुषिप्ति का धर्मी को पूछा जा रहा है शिष्टि धर्मी को